गन्धादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वाहम् काम जाने नमो नवगणस्याम कामकाम प्रदेहिने कमलाकामसौदाम कमकामप्रदेहिने श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदा नमो नम नमः नमः श्रीपरमहंसास्वादित शरणकमलचिन्मकरङ्गाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीकृष्ण गोविंद तीन चार प्रश्नों का उत्तर पाकर के ये कृतिकृत हो गए और प्रश्नों से उन्होंने उपराम ले लिया यावता प्रश्नान प्रथम सुसलाम तेभ्य प्रश्नेभ्य उपराम विदुर जी जब तीर्थ यात्रा से लौट करके आए कर उनका स्वागत करने के लिए युधिष्ठिर महाराज गुजरात युत्सु संजय ये सब लोग पहुंचे गांधारी द्रौपदी सुभद्रा हर्षेण सम्मुखम जम्मू बड़े प्रसन्न होकर के विदुर जी का साल स्वागत किया बुजुर्ग जी से का दर्शन करके सबके प्रेम के आंसू आंखों से निकलने लगे बुजुर्ग जी जब बैठ गए सुखमासीनम कम नम्र प्रयास हुई काम सुन राम कृष्ण जब बुजुर्ग जी बैठ गए तो उनसे महाराजा उसको इस तरह से पूछते हैं हे बुजुर्ग जी आपने बड़ी आपत्तियों से हमको मुक्त किया तीर्थ यात्रा करते समय कभी आप हमारा स्मरण करते थे क्या तीर्थ यात्रा करने के समय आपने अपने शरीर की देह की वृत्ति शरीर का निर्वाह किस प्रकार से किया किन किन तीर्थों में आपने भ्रमण किया भगवान के भक्त तो स्वयं तीर्थ होते हैं वो तो और तीर्थों को जाकर के पवित्र करते हैं ये भगवान श्री कृष्ण को ही जो देवता मानते हैं वो यादव लोगों जिसको तो आपने देखा वो सुखी तो है तो इस तरह से जब प्रश्न किया बुजुर्ग जी से तो बुजुर्ग जी ने तो जाकर के सब देखा था तो द्वारका भी होकर के आए थे यादव तो यादव भी आपस आपस में लड़ बढ़ करके मर गए थे पर बुजुर्ग जी ने वो यादवों के यादव कुल का नाश सुनाया नहीं दुष्ट को हैं इसको सुनकर के युधिष्ठिर को बड़ा दुख होगा तो वो इनको दुखी देखना नहीं चाहते थे इसके अनंतर कहते हैं कि वो विदुर जी कुछ दिन वहां रहे धृतराष्ट्र का हित करने के लिए पांडव सत्कृतो विद्रो धृतराष्ट्रा सत्वम समुपाद देश विद्रोह जी ने धृतराष्ट्र के लिए तत्व का उपदेश किया कहते ये तो सूत्र जाति के थे इन्होंने उपदेश कैसे किया ये नन सूत्रों से कथम उपादिशत के नायम शूद्र ये शूद्र नहीं थे ये तो साक्षात यमराज ही बुजुर्ग के रूप में प्रकट हुए और सौ वर्ष के लिए आए थे वो समय भी समाप्त हो चुका है सौ वर्ष के लिए सूर्य योनि में तुम चले जाओ ये शाप था मांडव ऋषि का वो पैदा हो चुका है तो मांडव ऋषि के शाप से सौ वर्ष के लिए इस मानव योनि में आए थे शत वर्ष पर्यंतम गुना सूर्य तुम बताओ अथ लब्धराज्यो युधिष्ठिरो वंशधर्म परीक्षितम दृष्टवा महाराजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरा को चलाने वाले परीक्षित को देखकर के बड़े प्रसन्न होते थे एवं गृहेश सत्तानाम तेषाम काल आदि इस तरह से भरत ग्रस्त में आसक्त लोगों के रहने पर अब वो, वो समय आया कि जो सबके सामने अंतिम समय आता है उसको विदुर जी ने जब जान लिया जो अपराधी थे कि अब इन लोगों का अंतिम समय है तो धृतराष्ट्र से कहने लगे विदुर जी हरे ग्राहक शीघ्र निर्गमता अरे भैया अब तुमको घर से शीघ्र निकल जाना चाहिए ये भयंकर समय आ रहा है लक्ष्य कश जिसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है ये कालीनाभग्रस्तो जहां बीज दीजते किम पुनर्धनाधि ये मृत्यु के बस में प्राण लाकर के शरीर से भी पृथक हो जाता है प्राणों से भी रहित होता है फिर धनाद को छोड़ना है उसकी पकड़ना क्या है देखो तुम्हारे पुत्र मारे गए सुहृद मारे गए तुम्हारा तुम स्वयं वृद्ध हो गए हो शरीर ही तुम्हारा गर्जर हो गया है और फिर तुम पांडवों के घर में रहते हो दूसरों के घर में रहते हो जराग्रस्ता सांप्रतम पर हे वससी देखो जीविताथावली जिस भीमसेन ने तुम्हारे सौ पुत्र मारे हैं उसी भीमसेन का दिया हुआ भोजन करते हो तुम जिन पांडवों को तुमने अग्नि में जलने का जलाने का प्रयत्न किया द्रौपदी का अपमान किया इसलिए कहते हैं अरे अतो धीरो भाव तुम धैर्य को धारण करो धीर किसको कहते हैं कि गत स्वार्थ में मन देहू विरक्त मुक्त बंधन अविज्ञात गतिरिया सवई धीर होगा जब समझ ले कि शरीर से हमको जो कुछ करना था वो तो कर लिया फिर तो संपूर्ण बंधनों से मुक्त होकर के ऐसी स्थान पर जाकर के शरीर को छोड़े कि जहां कोई अपना परिचित ही न हो उसको धीर पुरुष कहते हैं या स्वता पर तो वेद हो जात निर्वेद आत्मवान हृदय कृपा हरिम गेहा प्रब्रजे सनरोत्तम या अपने आप या दूसरे के कहने से और हृदय में भगवान का ध्यान करता हुआ अपने घर से जो निकल पड़ता है उसको नरोत्तम कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं इसलिए तम धीरो नाभू अतः तुम उत्तराम में दर्श अब तुम उत्तर दिशा को चले जाओ ये जब बुजुर्ग जी ने धृतराष्ट्र से कहा तो महाराज धृतराष्ट्र जो थे रात्रि को अपनी पत्नी से भी नहीं कहा किसी से नहीं कहा संजय से भी नहीं कहा रात्रि में ही वो उठ करके उत्तराखंड को चल दिए हाथ में अपना धंधा लेकर जब उनकी गांधारी ने देखा हमारे पतदेव इस समय विरक्त होकर के उत्तराखंड को जा रहे हैं तो गांधारी भी उनके पीछे पीछे चल रही प्रातकाल हुआ संध्या बंधन करके और उनको प्रणाम करने के लिए महाराजा जब युधिष्ठिर आए तो देखा सिंहासन खाली है नना धृतराष्ट्र है गांधारी है संजय से पूछा कि संजय अस्माकम ताको धृतराष्ट्र को गुजरो गांधारी चुका <clears throat> हमारे पिता धृतराष्ट्र माता गांधारी कहा है क्या हमसे कोई अपराध बन गया क्या किम गंगा में तो उन्होंने गंगायाम पपात किम किम गंगा में तो नहीं कूद गए जब संजय से पूछा तो संजय जो है पाणिभ्याम अश्विनी मृत्य हाथों से अपने आंसुओं को पहुंच करके धैर्य धारण करके बोले धर्मराजन भगकृष्णों हे धर्मराज पेशान निश्चितम न जाने हमको उनके निश्चय का कुछ पता नहीं होता कई राह वंश तो उसमें उन्होंने हमको भी ठग दिया हमसे भी कुछ नहीं कहा उसी समय नारद जी वहां हो बस उनको तो नारद जी को देख करके सब प्रसन्न हो गए सबने उठ करके उनको प्रणाम किया पूजन किया और युष्ठिर बोले नारद जी अस्माकम पित्रो गांधारियाष्ट गति न देती हमारे माता पिता गांधारी महाराजा धुतराष्ट्र कहाँ है नहीं पता नहीं है हम लोगों को कहाँ चले गए आप तो सर्वज्ञ हैं आप बताइए नारद जी बोले अरे उनके लिए तुम शोक मत करो ये संपूर्ण जो जगत है भगवान की अकील है भगवान प्राणियों का संयोग और वियोग करते रहते हैं <clears throat> देखो जैसे एक बच्चा खिलौनों से खेलता है खेलने की ये सामग्री होती है कभी कभी कभी तो उन खेलने की सामग्रियों को एक साथ एक जगह रख देता है कभी कहीं किसी को रख दिया गेंद कहीं रख दी कोई चीज कहीं रख दी ऐसे भगवान के खिलौने हैं तो कभी इनका संयोग भगवान करते हैं कभी इनका वियोग करते हैं तस्मात यह लोग स्नेहा बिना शोक हेतु इसलिए लोग जो दुखी होते हैं वो ममता हो जाने से स्नेह हो जाने से दुखी होते हैं इसलिए तुम उनके लिए शोक मत करो धैर्य धारण करो ये जो शरीर है काल के अधीन है ये दूसरे की क्या रक्षा कर सकता है जैसे सर्प के मुंह में पड़ा हुआ मेढक तो और किसको बचा सकता है सर्पग्रस्तु यथा अन्यम न रक्षति तत्व हे राजन इस जगत में एक नारायण जो है अपनी माया से अनेक प्रकार से जगत की रचना करते हैं वो भगवान दैत्यों का विनाश करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं प्राय देवताओं का जो कार्य है निष्पन्न हो चुका है वो कुछ थोड़े दिन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं तुम लोग भी थोड़े दिन के लिए प्रतीक्षा करो इस समय देखो गांधारी के सहित धतराष्ट्र जो है हिमालय के दक्षिण की ओर हिमगतो दक्षिणी ऋषिनाम आश्रम गता तो हिमालय पर पहुंच गए हैं और जहां सप्त सरोवर कहते हैं जहां गंगा सात धाराओं में बही हैं ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए ऋषि प्रीत सप्तदाभ्यर्धा तत्तीर्थम सप्त स्रोत जिस तीर्थ जिसका नाम सप्त सरोवर है सप्त स्रोत है धृतराष्ट्र जी वहां पहुंच गए वो इस समय त्रिकाल स्नान करते हैं और केवल जल पी करके रह रहे हैं जितसा जितासनो और जितस्वासनो एक आसन पर बैठ गए प्राणों को उन्होंने बस में कर लिया भगवान का ध्यान कर रहे हैं रजोगुण तमोगुण उनके चित्त से निकल गए मन को बुद्धि में एकाग्र करके बुद्धि को जीव में लीन करके घटाकाश को जैसे महाकाश समझ लेते हैं ऐसे जीव को ब्रह्म रूप समझ करके और इस समय वृक्ष के समान बैठ गए अब जाकर के तुम वृद्ध मत करो हमने तुमको पता उनका बताया अब जाकर के उनके विघ्न मत बनो तुम जाकर वो इस समय समाधि में बैठे हैं वो धृतराष्ट्र आज से पांचवें दिन पंचमी हनि देहम क्या क्षति वो अपने शरीर को छोड़ देंगे त्याग देंगे वो योगाग्नि से उनका शरीर भस्म हो जाए लौकिक अग्नि से अपने शरीर को नहीं जलाएंगे योगाग्नि से उनका शरीर जल जलेगा और अपने पति के शरीर को भस्म होते हुए जलते हुए देख करके उसमें दानधारी भी उसमें प्रवेश कर जाएंगे इस वजह से बुद्ध जी ये सब कुछ देख करके हर्ष और शोक से युक्त होकर के अपने भाई की सदगति देख करके उनको हर्ष होगा भाई का वियोग हो जाने से कुछ दुखी भी होंगे तो तीर्थ यात्रा करने चले जाएंगे नारद जी ऐसे कह करके ये समाचार उनको सुना करके नारद जी वहां से चले गए और उधर अर्जुन को युधिष्ठिर ने भेजा था द्वारका में समाचार लेने के लिए तो अर्जुन कई छह महीने हो गए पर लौट करके नहीं आए हाँ, बड़ी चिंता हो रही थी महाराजा युधिष्ठिर को भीमसेन से कहने लगे भैया सप्तम आशा गता अज्ञापित हेतु आया थी सात महीना हो गए अर्जुन लौट करके नहीं आए तो देखो बड़े अशकुन हो रहे हैं हमारी बाई भुजा खड़क रही है हृदय कप रहा है ये सियारी सूर्य की ओर मुख करके हो रही है ये देखो ये कुत्ता जो है श्वान जो है मेरे ओर मुंह करके रो रहा है ये गधु गधे आदि हम्म, जो पशु हैं हमारे माम वामन को बनती हमको तो, हमको तो हमारी दक्षिण होकर दाई ओर होकर के निकल जाते हैं गर्भवादिक और गौ जो हैं हम हमारे जो हैं दाई ओर होकर के निकल जाते हैं ये देखो रूप और आप कैसे भयंकर शब्द कर रहे हैं मालूम इनके शब्द को सुनकर कैसा मालूम होता है मानो ये जगत को सुनन करना चाहते हैं पृथ्वी कप रही है दक्षिणे अपनी माताओं को स्तन नहीं पान कर रहे दूध नहीं पीते गौओं के नेत्रों से आंसू कर रहे हैं ऐसे प्रकार बातचीत कर रहे थे भीमसेन से महाराजा थे तो तुम्हें में अर्जुन वहां से आ गए द्वारका से समाचार लेकर के महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया अर्जुन को देखा युधिष्ठिर ने तो उनकी कांति नष्ट हो गई युधिष्ठिर तो महाराज ने पूछा अरे हे अर्जुन यादव लोग सुखी तो हैं भगवान श्री कृष्ण आनंद से तो हैं भक्त वत्सला सुहृदृत भगवान सुप्रियाम कुशली के जो संसार के कल्याण के लिए और धर्म की रक्षा के लिए जिनका अवतार हुआ है भगवान श्याम सुंदर भली प्रकार से तो है सबकी उन्होंने कुशल पूछी ये अर्जुन तब आरोग्यम क्यों तुम उदास क्यों मालूम हो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है ना तुम निस्तेज कैसे हो रहे हो कहीं क्या तुम्हारा कोई अपमान हुआ है ब्राह्मणम बालम वृद्धम गाम रोगिणम स्त्रियं च शरणागतान बा न रक्षित मान के क्या इनकी तुम रक्षा न कर पाए हो इसलिए तुम्हारा तेज नष्ट हो रहा है यदवा ध्यान बालांश्च विहाय त्वया पूर्वम भोजन कृतम ये भी कहते ऐसा तो नहीं हुआ कल कि छोटे छोटे बच्चे देख रहे हों वृद्ध लोग बैठे हों और सबसे पहले तुमने भोजन कर लिया इससे भी तेज नष्ट होता अनेक कल्पनाएं तरह से जब प्रश्न किए तथो अर्जुन कृच्छेण नेत्र जलम विमृत्य बड़ी कठिना से कठिनताई से धैर्य धारण करके और अश्रुओं को पहुंच करके प्रेम से व्यापन होकर के अर्जुन बोले भगवान का स्मरण करके वाणी की गदगद हो रही थी अर्जुन बोले कि महाराज श्री कृष्ण ने बन चुके उसमें और उस बात में भगवान का मतलब होगा हो गए देवता मैंने वो वो कार्य किए हैं भगवान की कृपा से कि देवता भी आश्चर्य में पड़ जाते थे देखो जिन भगवान की कृपा से स्वयंवर में जाकर के संपूर्ण राजाओं को निस्तेज करके मैंने द्रौपदी को प्राप्त किया जिनकी समृद्धि से जिनकी कृपा से महेंद्रम विजित्य इंद्र को जीत करके मैंने अग्नि के लिए खांडव वन जलाने के लिए दे दिया दंभे अहम खांडवम वनम दत्तवान मया सभा से लगता किंच सभायाम यही दुस्साहनाभिवृद्ध द्रौपद्या केशबंधनम विमुच्य केशा दूषिता जिन लोगों ने द्रेद जी के केशों को स्पर्श किया था आज उनकी स्त्रियां हतनाथ होकर के रुदन कर रही यो भगवान अयत शिष्य सा भोजन पूर्वक जिन्होंने वन में जाकर के जिन भगवान श्री कृष्ण ने दुर्वासा जी से हमारी रक्षा की महाभारत में कथा है एक कदाचित दुर्वासा जी दुर्योधन के यहां एक बार आए और दुर्योधन ने दुर्वासा जी का रोस स्वागत सत्कार किया और दुर्वासा जी को प्रसन्न कर दिया तेरे से कर्तुष्टे में वरम वृणी स्वेच्छुक दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए दुर्योधन से और दुर्योधन से कहा हमसे कोई घर मांग ले लो हम प्रसन्न हैं सहसा जल्दी प्रसन्न नहीं होते पर तेरे ऊपर हम प्रसन्न हैं तेने हमारी बड़ी सेवा की हमसे कोई घर मांग ले दुर्योधन ने कहा महाराज हम फिर तो विचार करके आपसे वर मांगे तो फिर वो सब लोग उनकी कर्ण में दुशासन है दुर्योधन है ये सब ये सब लोग मिले और आपस में विचार किया कि भाई देखो दुर्वासा जी प्रसन्न हुए हैं और वर मांगने को कहते हैं बोलो उनसे क्या वर मांगना चाहिए ये कहा ऐसा मैंने विचार करके कि दुर्गाजा दुर्गाशा जी के साप से पांडव लोग बन में ही नष्ट हो जाए हाँ? ऐसा उपाय करना चाहिए तो उन्होंने सब विचार करके उन्होंने कहा महाराज हम साधुओं की सेवा करना क्या जाने हमारे बड़े भाई जो स्थिर हैं जो महात्माओं को बड़े भक्त हैं आप जैसे दस हजार से लेकर के हमारे यहां पधारे हैं इसी तरह से वहां जाकर के आप अस्थि होंगे वहां पर परंतु ऐसे समय पर जाना चाहिए कि जिस समय द्रौपदी ऐसी है जो अपना भी भोजन दे देती है स्वयं भूखी रह जाती है ये पीछे बैठे गिरोपद्यादा क्षुदा नारुसीदे तथा पश्याम भुक्तवत्याम तदग्रहम गंतव्य आप उस समय पहुंचे वहां जब द्रौपदी भोजन कर चुके ये उन्होंने डर मांगा दुर्वासा जी ने कहा ये तुमने क्या डर मांगा तो हम लोग तो जाते ही जाते रहते हैं चलो एक दिन महाराजा रजिस्टर के यहां भी जाकर के अतिथि होंगे तो वो दस हजार शिष्य लेकर के और दुर्वासा जी महाराजा युष्ठिर के यहां पहुंच गए जब महाराजा युष्ठिर भोजन कर चुके थे द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी उनको देख करके तत्कालीन महाराज युष्ठिर ने कहा महाराज तो भोजन का समय है आप भिक्षा करेंगे हाँ भिक्षा तो करेंगे हाँ, अभी हमने भिक्षा नहीं की है तथा आवेदित वृत्तांत तब तो जाकर के द्रौपदी से कहा देवी दस हजार से लेकर के दुर्वास आदि आए हैं अभी तुमने भोजन तो नहीं किया महाराज मैं तो भोजन कर सके तब तक तो उन्होंने तथा पश्चाम भक्त भक्तान का ग्रहण तो दृष्टि ने कहा था महाराज आपका जो है मध्यान्ह समझा करके स्नान करके आप आई और जब द्रौपदी को ये पता चला कि दुर्वासा जी दसज्जा शिष्य को लेकर के आए हैं और हम निमंत्रण उनको दे चुके हैं अब क्या करना चाहिए तो द्रौपदी को एक बचपन की बात स्मरण आई द्रौपदी ने कहा वो वशिष्ठ जी ने हमसे ये कहा था ज्ञातम मया वशिष्ठेन पुरादीतम महात्मा महत्यापद संप्राप्त स्मर्तव्यो भगवान हरि भी तेरे ऊपर जब कोई बड़ी भारी आपत्ति आए तो तू श्री कृष्ण का स्मरण कर ले बोले इससे ज्यादा और क्या आपत्ति होगी ज्ञातम मया न पुरागीतम महात्मना महत्यापद संप्राप्त स्मर्तव्यो भगवान हरि पूर्व तो द्रौपदी को स्मरण आया तो वशिष्ठ जी ने हमको ये बात कही है तब तो द्रौपदी जो है उसी समय तो वो दुर्वासा जी तो वहां पास में जो नदी थी वहां स्नान करने को चले गए और उन्होंने वहां जाकर के जल में गोता लगा करके अभिमर्शन मंत्र जपने लगे इस वो इस समय द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना आरंभ किया आपत्ति में तो ध्यान बहुत लग जाता है द्रौपदी जी ने समझा कि हमारी तो बड़ी हरी आपत्ति है तो एक साथ बैठ करके भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करने लगे श्री कृष्ण तत्क्षण में भक्त भक्त चलता था तत्क्षण द्रौपदी तो नेत्र बंद करके जो मन लगाया भगवान ने भगवान श्री कृष्ण तत्काल उसके सामने आकर के उपस्थित हो गए और रे देव द्रौपदी क्या कर रही है तू नेत्र बंद कर दे तो उसने आंखें खोली तो भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े बोलिए श्री कृष्ण भगवान से आवेदित आवेदित स्थान थे बोलो किस तरह किस लिए मेरा चिंतन कर रही है क्यों ध्यान कर रही है क्या आपत्ति है उसने जी महाराज दस हजार शिष्यों को लेकर के दुर्वासा जी आए हैं मेरे पास कुछ है नहीं इसलिए मैंने आपका स्मरण किया भगवान ने कहा भगवतम द्रुपद्या अहम भूक्ष कोषमी है भूखे हम भी हैं तो प्रथमम माम है तू दस हजारों को भोजन नहीं करा सकती तो हमको भोजन करा है द्रौपदी ने बड़ी लज्जित होकर कहा स्वामी मत भोजन करियंतम अक्षय अक्षयम अक्षयम अन्नम सूर्य दत्त स्थाल्याम हमारे पास एक ऐसा पात्र है कि जब तक मैं भोजन नहीं करती तब तक उसमें अन्न अक्षय रहता है समाप्त नहीं होता पर मैं जब भोजन कर लेती हूं तो समाप्त हो जाता है पर मैं तब भोजन कर चुकी अब मेरे पास क्या है मया सर्वान संभोज्य भुक्तम सबको भोजन करा करके मैं भोजन कर चुकी इसलिए महाराज मेरे पास कुछ नहीं भगवान ने बड़ी हट करके